That was a brilliant performance. Very effortless style. ऐसा लगता है कि जन्मों से सीख रहे हैं और आपने देखा जब बच्चे ये आए स्टेज पर मैं देख रहा था इसने ये पाउडर निकाला पाउडर निकाल के पता नहीं जब भी तबला वादक पाउडर निकालते हैं तो मुझे वो नहीं छोटी बेबीज़ याद आती हैं जब नेप नेपीज नहीं चेंज करते तो अमीर खुसरो ने जब तबला ईजाद किया होगा उसे मालूम नहीं था कि कि जोड़ी पर इसी तरह पाउडर का इस्तेमाल होता है जैसे बच्चों की नगनता के रूप पर होता है बहरहाल बच्चों का अगर तबला बजाया जाए तो आपको पता वैसे इतने अच्छे सुर नहीं निकलते तो दोस्तों बहुत ही प्यारा इन्होंने तबला वादन जीवन सिंह ने 11 साल की उम्र में और उसके भाई अर्जुन सिंह वो संगत कर रहे थे हारमोनियम पर लहरा बजा रहे थे और देखिए आप सब संगीत को समझने वाले हैं कि लय संभालना बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में लय को संभालना बड़ी मुश्किल बात है और ये कुदरत की देन है और उनका रियाज है मैं रविंद्र पाल सिंह और लवली को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इतनी प्रेम से इन बच्चों को सिखा रहे हैं और साथ ही ये हमें आशावादी रहना चाहिए कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पंगड़े के उल्टे सीधे गाने आ रहे हैं तो आजकल लेकिन इन बच्चों को देखकर आशा बनती है कि अच्छा संगीत भी सिखाया जा रहा है और सीखा जा रहा है अब अब दो सितार आपके सामने पेश किए जाएंगे सितार वादन और ये भी स्टूडेंट्स हैं अभी सितार पर ज्ञान सिंह जी वृद्धि और सुजान कौर पनेसर तबले पे कुलवंत सिंह स्लैच संगीत करेंगे तो इनका सितार वादन सुनिए इन्होंने बड़ा ही बड़ा ही प्यारा राग चुना है राग देश बड़ा मीठा राग है जिन लोग आप तो सब समझदार हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है और सिदार के बारे में सोचते हुए बड़ी हैरानी होती है कि हज़रत अमीर खुसरो ने कैसे कैसे साज पैदा कर दिए तबला पैदा कर दिया फिर सितार फिर तराना उन्होंने उन उसकी इख्तरा की तो स्वागत कीजिए इन कलाकारों का सितार पर राग देश दो सितारों पर राग देश Thank you.